आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio Madhuban F M सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और आपको उनसे विशेष रूप से जो अच्छी उनकी खासियत है वो सुनने को मिलता है तो आइए ऐसा ही कुछ आज खास विशेष मुलाकात कार्यक्रम में होगा हमारे साथ इकबाल हुसैन इकबाल जी हैं जो बहुत ही अच्छे कवि हैं उदयपुर से बिलोंग करते हैं और उदयपुर से ही बहुत जगह अलग अलग भारत देश में घूमकर कविताओं का पाठ करते हैं और मंच संभालते हैं तो आइए ऐसे विशेष कवि के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज इकबाल हुसैन इकबाल जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी मैं अपना काव्य यात्रा का सफ़र शुरू करने से पहले कुछ खुले अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ शेर देखिए इकबाल अभी जहाँ में ज़िंदा है नेकियाँ इकबाल अभी जहाँ में ज़िंदा है नेकियाँ वरना गुलाबों में ये खुशबू नहीं होती वरना गुलाबों में ये खुशबू नहीं होती एक शेर और देखिए कारवां अपना बचाकर अब कहाँ ले जाएं हम कारवां अपना बचाकर अब कहाँ ले जाएं हम मंजिलें जलती हुई हैं पुरखतर हैं रास्ते मंजिलें जलती हुई हैं पुरखतर हैं रास्ते और एक शेर और देखिए शोहरतें इससे बढ़कर और क्या होंगी शोहरतें इससे बढ़कर और क्या होंगी कि जिक्र है उसी का और वो शामिल नहीं कि जिक्र है उसी का और वो शामिल नहीं और एक शेर देखिए कि आईना धुंधला ही रहने दीजिए आईना धुंधला ही रहने दीजिए साफ होगा सच नहीं सह पाओगे साफ होगा सच नहीं सह पाओगे और एक दो मतले समाप्त फरमाएं मतला है मूंद कर आंख तुम भले रखना मूंद कर आंख तुम भले रखना सोच के दायरे खुले रखना मूंद कर आंख तुम भले रखना सोच के दायरे खुले रखना और एक मतलब और देखिए कि बज्म में कुछ ही निराले होते हैं बज्म में कुछ ही निराले होते हैं शक्ल से जिनकी उजाले होते हैं शक्ल से जिनकी उजाले होते हैं और चार पंक्तियां देखिए कुछ दिए तो हवा के रहम पर जले कुछ दिए तो हवा के रहम पर जले कुछ दिए जो हवा से सहम कर जले कुछ दिए तो हवा के रहम पर जले कुछ दिए जो हवा से सहम कर जले वो दिए आंधियाँ भी बुझा ना सकी वो दिए आंधियाँ भी बुझा ना सकी जो दिए बस खुदा के करम पर जले वो दिए आंधिया भी बुझा ना सकी जो दिए बस खुदा के कर्म पर जले और एक मत और देखिए इधर से वार होता है उधर से वार होता है इधर से वार होता उधर से वार होता है बताएं क्या तुम्हें कैसे सफीना पार होता है बहुत आसान है मौजे तला तुम से निकलना पर बहुत आसान है मोजे तला तुम से निकलना पर किनारों की सियासत से बड़ा दुश्वार होता है किनारों की सियासत से बड़ा दुश्वार होता है और एक नुकता और देखिए मोहब्बत से मिलो हम से खुशी से चूर कर देंगे मोहब्बत से मिलो हमसे खुशी से चूर कर देंगे सभी रंजो अलम दिल से तुम्हारे दूर कर देंगे कभी मेहमान बनकर आओ बैठो दिल की महफिल में कभी मेहमान बनकर आओ आओ बैठो दिल की महफिल में नवाजेंगे तुम्हें इतना तुम्हें मगरूर कर देंगे नवाजेंगे तुम्हें इतना तुम्हें मगरूर कर देंगे और एक मुक्तक और देखिए मोहब्बत के सिवा कुछ भी हमें करना नहीं आता मोहब्बत के सिवा कुछ भी हमें करना नहीं आता अदावत से ज़माने की हमें मरना नहीं आता हमारी इस अदा पर नाज करता है जहाँ सारा हमारी इस अदा पर नाज करता है जहाँ सारा भले कैसा भी हो दुश्मन हमें डरना नहीं आता भले कैसा भी हो दुश्मन हमें डरना नहीं आता और एक गज़ल के चंद अशार याद आते हैं जब करम तेरे याद आते हैं जब करम तेरे याद आते हैं जब करम तेरे भूल जाता हूँ सब सितम तेरे भूल जाता हूँ सब सितम तेरे फिर देखिए शान शौकत दिखती महल जैसी शान शौकत दिखती महल जैसी जब पड़े मेरे घर कदम तेरे जब पड़े मेरे घर कदम तेरे से देखिए प्यार तुझसे है इसलिए ज्यादा प्यार तुझसे है इसलिए ज़्यादा जो सनम मेरे वो सनम तेरे जो सनम मेरे वो सनम तेरे और ख़ास सरमाया ये रहा अपना खास सरमाया ये रहा अपना चार गम मेरे चार गम तेरे चार गम मेरे चार गम तेरे से देखिए सब्ज बागों को देखता हूँ मैं सब्ज बागों को देखता हूँ मैं काम आए हैं वो भरम तेरे काम आए हैं वो भरम तेरे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम अभी आप सुन रहे थे इकबाल हुसैन इकबाल जी को बहुत ही तरन्नुम में उन्होंने जो गज़ल जो मुक्तक जो शेर पेश किया शायद आप भी मंत्रमुग्ध होकर उनकी आवाज़ की तरफ देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा और इससे कितना अच्छा होगा शब्द का जो एक बहुत ही सुंदर शब्दों को सुर में बांध कर जो तरुणम ने पेश किया मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छा लग रहा है तो आइए मैं चान मैं आप सभी को ले चलता हूँ उनके पास फिर से एक बार और मैं जानना चाहूँगा इकबाल हुसैन इकबाल जी आपने ये लिखना कब से शुरू किया और तरन्नुम में गीत गाना कब से शुरू किया थोड़ा सा बताइए अपना इतिहास शायरी के लिए मैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ तो मेरा ख़ुद का एक शेर है कि शायरी में पुख्तगी गर चाहिए शायरी में पुख्तगी गर चाहिए सिर्फ अशकों का समंदर चाहिए और शायरी करने के लिए आदमी को बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता आदमी के अंदर इतनी शायरी इतनी सोच इतने फ़िक्र भरे हुए हैं कि अगर वो उन्हीं को बहुत तरीक़े से अपनी नज़र से परख कर देखे तो अंदर से बहुत सारी शायरी निकल सकती है मेरा शायरी का सफ़र मुझे खुद भी पता नहीं चला कब शुरू हो गया और मुझे ये भी पता नहीं चला कि मैं कब कब शायर हो गया मैं तकरीबन तेरह साल की उम्र मेरी रही होगी तेरह साल की उम्र में मेरी माता जी शांत हो गई थी और उनके शांत होने के बाद मैं अपने आप को बहुत अकेला असहाय महसूस करता था तो उस गम को धीरे धीरे मैं तुकबंदियाँ करने लगा उस अपने गम को भुलाने के लिए तो वो तुकबंदियाँ करते करते कब शायरी में बदल गई और मैं कब शायर हो गया मुझे ख़ुद को भी पता नहीं चला लोग मानते हैं कि मैं शायर हो गया लेकिन मुझे तो पता नहीं है अभी भी कि मैं शायर हूँ क्या बस ये है कि अपने दर्द को कागज़ पर उतारता हूँ और वो मेरा दर्द जो है गज़ल बन के लोगों के सामने पेश करता हूँ तो लोगों को भाती है ये लोगों की ज़रा नवाजी है वो पसंद करते हैं मैं श्रोताओं का सामाइन का सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने प्यार से इतने मोहब्बत से सुनते हैं मैं अब अपनी एक गज़ल आपकी पेश खिदमत है गज़ल का मतला समात फरमाएं गज़ल का मतला है कभी राज ये भी समझ कर तो देखो कभी राज ये भी समझ कर तो देखो किनारों में उलझा समंदर तो देखो किनारों में उलझा समंदर तो देखो शेर देखिए दिखा तो रहे हो हमें आसमां तुम दिखा तो रहे हो हमें आसमां तुम जरा तुम हमारे कटे पर तो देखो जरा तुम हमारे कटे पर तो देखो से देखिए तुम्हारी बनाई हदों को न माने तुम्हारी बनाई हदों को न माने उड़ा कर ये पाले कबूतर तो देखो उड़ा कर ये पाले कबूतर तो देखो तुम्हारी बनाई हदों को न माने उड़ा कर ये पाले कबूतर तो देखो और शेर अर्ज है जहाँ चीज क्या है झुकेंगे फरिश्ते जहाँ चीज क्या है झुकेंगे फरिश्ते लुटा घर किसी का बसा कर तो देखो लुटा घर किसी का बसा कर तो देखो जहाँ चीज क्या है झुकेंगे फरिश्ते लुटा घर किसी का बसा कर तो देखो और ये एक शेर मेरे अपने लिए है हमें ही वो चाहे हमें ही सताए हमें ही वो चाहे हमें ही सताए मोहब्बत से मारे सितमगर तो देखो मोहब्बत से मारे सितंगर तो देखो इकबाल हुसैन इकबाल जी बहुत ही प्यारा सा जो गज़ल है शेर के साथ आपने सुनाया बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत ही अच्छा से माँ आपने बांध दिया था आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा इस तरन्नुम में वो डूब गए होंगे और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो जाते जाते कुछ चंद लाइनें जो हैं एक शुभकामना के रूप में हमारे सभी श्रोताओं को जरूर बताइए शायरी मैं जहाँ तक समझता हूँ ये उसकी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है किसी बड़े उस्ताद शायर ने एक शेर कहा है कि दर्द होता नहीं सभी के लिए दर्द होता नहीं सभी के लिए है ये नेमत किसी किसी के लिए तो ये नेमत परवरदिगार की तरफ से उस भगवान की तरफ से जिसको अता होती है सरस्वती जिस पर मेहरबान होती है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है साधना ईमानदारी जिसके पास जितनी ईमानदारी होगी जितनी साधना होगी उसको उतना ही मेरा एक दुआ है कि जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसका दाम जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसका दाम मिले निबोली नीम को मिले आम को आम तो आप जैसी साधना करेंगे ऊपर वाला आपको वैसा ही फल देगा शर्त यह है कि आपकी उसमें ईमानदारी भरपूर होनी चाहिए जिसमें ईमानदारी होगी उसमें आपकी ईश्वर खुदा गोड सब मदद करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल हुसैन इकबाल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे साथ शेयर किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था आपके साथ बातें करते हुए और मैं चाहूंगा कि इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहें और अपनी तरमनुम हमारे साथ सजा करते रहें इन शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन खुशबू मेहंदी रच जा जब